I Mahadaya Valeria Singarati Nare Mara Hanamana Raja Deva palavra. பராஜாயே Mighty is the Hare સતાપે પડ જાજો આબા બીજડી તેરા ગુરુ કો ખાજો કાળો નાગ આજ રાણી સમજાવે સતકી પિંગલા રે તું ખેણો મેરો માન महाराज मेरो खेणो मानो और जोगी मत बनो राजा बत्री एक भी पुत्र हर नहीं वो को ना दियो जाकी बैठती मैं मुड़ मुड़ छाए राजा भत्री एक तो मेरे बेटो हो तो, तो मेरे लेके चाहे तो भी हो तो चाहे कहीं जातो पर वहां पर विश्राम तो कर ले एक भी पुत्र हर हरने ना दियो की बैठती मुड़ मुड़ छाए रानी कागज हो तो जाको बात तो रही कर्मन बांचुन मोप जा रानी कागज हो तो, तो मैं तो को पहले ही बांच के सुना देता ये पटपड़ी वाली एक मोपे भी नहीं बांचा जाए राजा भर्तृ तो राजा वर्त्री रानी तो कहवा एवं रानी तेरी बहन है छोटी इंगला उसके सात बेटा हैं वापस एक बेटो मांग गए सात बेटा तेरी छोटी बहन के वासूल्या जो ये के मांग अरे राजा भरतरी मांगा मिलेगा मोकू जो चना बेटा मिलवा का मोकू हर गज ना चाहे मेरी लाख बहन है पर बेटा मांगा नहीं देगी जो चना गेहूं हर एक चीज मांगी मिल जाए पर बेटा मांगा कोई नहीं देगी तो कैसे एक राजा भर्तरी कहता है और कैसे एक रानी पिंगला सुनती है आया है મારી ડોહારે કૂપન વાંજો શેર પર મોરે રાણી મારી પીનારાયે મારે રે સતે વાંતે રે મારે તોર સતે વાંતે નારે મારે आगुण कर प्यार रुपया मारा मालक द्यार

थे महाराज पंचन में पकड़ो मेरो हाथ तो तू पंचन पकड़ा की लग गया मेरी राग रानी नाई ने भांजा बामन ने भांजा कंकन डोड़ा नाई ने भांजा सिर पे मोड़ ना तोरण मारो मैंने शंकर दीप में फेरा लिया तेरा मांड राज रानी पिंगला कहने लगी महाराज काका बाबा सारा कुटुंब मेरा बैठा जिसमें मेरो तेने और फेरा लिया साथ तो राजा वर्तनी तू फेरान की लज्जा मेरी राख दे रानी पिंगला कह बोले महाराज मैंने सींचो तू पेड़ आम को तू निकलो पेड़ बमूड़ मुड़ मुड़ बैठी तेरी छावड़ी बूटन लाजा मेरे सूर महाराज मैंने तो ऐसा समझा अब आम का पेड़ है बहुत मीठा है और तो ये बमूल का पेड़ जिसमें सूर आते हैं जो उड़ ना राजा वर्त्री मैं अतपर को जो की तो को जानती फेरा लेती हर गज तेरा ना फेरा मैं कर लेता तो भगवान कापड़ा राजा भर देता हूँ फेरा लेती हर गज तेरा ना महाराज जब तू फेरा ना कपड़ा भगवान कर ले तो तो मैं तेरा हर गज फेरा ना लेती मोको क्वारी बाई गुब्बर नुकता हा तो कैसे राजा भरती रानी पिंगला सुख है वह पर कैसे रानी पिंगला सतवंती सुना है तो भरतरी का मेला भरता है जब भगवान ना भगवान उस मेले में खड़ा होकर के और भक्ति और ऐसी धन में सुनाते हैं Girl, you know. I say रानी को खेनो मान राजा बत्री खे रानी बहकेड़ी नंदी को पानी ना पीऊं न क्रिया पे भाऊंगो हथियार मारूंगो काला मेरे पूरे में नहीं खतरा पड़ के लग जाए वो मोटो जागे रानी बहती नंदी को पानी नहीं पीऊंगा और त्रिया पे हथियार नहीं भाऊंगो भाऊंगा तो तुम्हें छतरी पे हथियार भाऊंगो तुम्हें तो काला मेरे को मारूंगा रानी पिंगला ने सोची राजा भट्ट जरूर काला मृग को मारेगा और सत्यन मृग इनको रान कर तो मृग भी बाबा गोरखनाथ को ही चलो ये बारह वर्ष को और मिर्गीन में मृग बना के भेजो तो कैसे एक राजा भर्तरी और चौबीसों सात दिन ले और विकट वन को चले है और कैसे एक सफरा नंदी घाट पे खोटा छोड़ कहीं जगह पहुंचे

बरार चेला ओ आवे बास जब भग घनेरा सुग दास घनेरा रचेला गुरुदिन गोर भाई गुरुदिन बसयत अगने ये पतरना

Ready. All ah, right, what? Wow. श्याल काळा पडदारो गाडो आकासू मिलगो भैंस छटनता मिलगो तो वा अरे राजा भर्तरी खुला केसा की गोरी मिल गई बोड़े घड़े मिली पिणियार अरे उल्टो बग राजा भर्तरी तू खेणो मेरो मान महाराज आज उल्टा बग जाओ आज मत जाओ राजा भर्तरी केवल वो रानी सदा दिवाड़ा दिन का सदाई बार सुबार खोटा सोन जानना जानो वो जानना रूसना सेंस का भगवान जैन भगवान उसको जैन खोटा सोन मानू मैं खोटा सोन नहीं मानूंगा नहीं रानी मैं तेरो खाना नहीं मानू मैं जरूर जाऊंगा तो राजा वर्ती चौबीस सौ सात लेकर और सपरानंदी घाट पर जा पहुंचा जल का निवास जिनको है क्या साथी तो मैं बोलेगा भाई साथी साथियों घोड़ा तो या हरी हरी धूप में छोड़ दू और माला बना बना कर जल की तीर पर बैठ जाओ जो जानवर जो यही पानी को आएगा तो कारो मृग हीरो कारो मृग जो यही आएगा आते ही उसको मैं मारूंगा तो चौबीसों साथी बना बना के माला और सपरा नंदी घाट में बैठता है और कैसे सत्तर मील की डार चलती फिरती आवे है और पीछा से मेरे को भी घूम तो घूम तो आवे है और कैसे यहाँ से एक राजा भत्री आधा को भरता है बैठे बैठे